कल राधा सुनाई थी गोदावरी किनारे हैदराबाद राज्य के इलाके में गोदावरी किनारे से दो माइल दूर एक गांव था ब्राह्मणों का वहां इस साधु को पता चला कि एक साधु वहां टिका है तो वो उनसे मिलने गया तो संस्कृत में बोल रहा था बोले तुम संस्कृत भाषा कैसे जाने बोले हम फौज में हैं तो इतना संस्कृत पढ़े नहीं थे गौ माता की सेवा करना का अवसर आया था इसीलिए विधर्मियों को जरा थोड़ा डांट मारपीट के भगा दिया केस मुकदमे हुए भगवान की शरण ली मुकदमों से बरी हो गए भगवान में श्रद्धा हो गई साधु बन गए साधु बन गए तो फिर कुंभ के मेले में गए तो किसी विद्वान ने कहा कि साधु लोग अनपढ़ होते हैं तो लग गई चोट दिल में तीन दिन तक कुछ खाया नहीं पानी तक नहीं पिया उदासीन वृत्ति से पड़े रहे तो मन इंद्रियों का तप हो गया ना उदासीन वृत्ति से पड़े तीसरे दिन सुबह को स्वप्न आया और देव ऋषि नारद दिखे और नारद ने कहा कि तुम तो भगवान नाम का कीर्तन खूब करो ऐसे मन बुद्धि भगवान के रस से रंग जाएंगे सारी विद्याएं जहाँ से प्रकट होती वो परमात्मा का सुख प्रकट हो जाएगा तो जो चाहोगे वो हो जाएगा संस्कृत भी आ जाएगी अपने आप विद्या खुल जाएगी बाबा जी इसी कारण में कीर्तन भजन करते करते भगवान के रस में पावन हुआ अब फिर थोड़ा बहुत किताब देखता रहा तो मैं संस्कृत का बड़ा भारी विद्वान हो गया अभी मैं बोलता चालता हूँ संस्कृत में ये केवल जप और ध्यान का प्रभाव है मैं पढ़ने नहीं गया हूँ इस समय तो लघु लघुमती को लघुमती लघु कोमती पढ़ी है और दूसरे ग्रंथ पढ़े हैं खंडन खंड खाद्य पढ़ रहा हूँ अद्वैत सिद्धि एक ब्रह्म है ऐसा ज्ञान संस्कृत में मैं पढ़ रहा हूँ बाबा जी ने अपने भक्तों को बताया कि मैंने रूबरू उन संतों को स्वतंत्र को देखा ऐसा मिलिट्री में से कट्टा पंजाबी शरीर गौ वर्ण का था और उम्र सत्तर साल की थी हाँ बड़ा चुस्त बड़ा प्रसन्न गांव में बड़ी भारी प्रशंसा थी साधारण आदमी तो प्रशंसा कराने के लिए क्या क्या कावा दवा करते बेचारे नेता लोगों को कितना कितना करना पड़ता है फिर भी उनकी प्रशंसा टिकती नहीं कुर्सी गई कि प्रशंसा भी साथ में चूक हाँ थोड़ी बहुत सच्चाई है समाज की सेवा है तो जरा बहुत रहता है नाम नहीं तो फिर छू हो जाता और संत नहीं चाहते तभी भी प्रशंसा उनके देह के चले जाने के बाद भी रहती क्योंकि परमात्मा शाश्वत तत्व है तो जो शाश्वत में प्रीति करता है उसका सब कुछ सही हो जाता है जो नश्वर में प्रीति करता है उसका सब कुछ नाश हो जाता है